तीन बार ओम का उच्चारण धर्मी सज्जनों आर्य विनय के प्रथम प्रकाश का तैतालीसवां मंत्र आज स्वाध्याय में पढ़ा गया इस मंत्र में परमात्मा से प्रार्थना की गई है इस मंत्र में पहली प्रार्थना है वयम जयेमा हम विजय को प्राप्त होवे कैसे प्राप्त होवे त्वया युजा तेरे से जुड़े हुए तेरे साथ तेरी सहायता से वयम जयेमा हम विजय को प्राप्त हों किसको विजय प्राप्त करें किस पर विजय प्राप्त करें तो कहा वृत्तम वयम वृत्तम जयेमा हम वृत्त को जीत लें वृत्त शब्द का अर्थ महर्षि ने खोला हमारे बल से घेरा हुआ जिसे हम जीतना चाहते हैं वो हमारा शत्रु है हमारे विपरीत है और उसको हम जीते लेकिन वो कैसा हो वृत्तम हमारे द्वारा घेरा गया हो ऐसा वो शत्रु ईश्वर से प्रार्थना पुरुषार्थ पूर्वक होती है ये महर्षि का संकेत इस मंत्र से भी वो संकेत मिल रहा है उस शत्रु को जीतने की बात प्रार्थना ईश्वर से की जा रही है जिसको वृत्तम हमने घेर लिया है ये पुरुषार्थ का द्योतक है हम उस शत्रु को घेर चुके हैं उस शत्रु को हमने घेरा है आगे कहा अस्माकम अंशम उदवा भरे भरे भरे भरे संग्राम संग्राम में जब जब भी संग्राम हो युद्ध हो वहां सर्वत्र अस्माकम अंशम हमारे अंश को हमारे भाग को हमारी सेना को हमारे अवयव को उत अव उदव अच्छी प्रकार से रक्षा कर उदवा जो आ है ये दो अच वाला तिंग है उसको दीर्घ हुआ हुआ है दिचोतस तिंग तिंगा तो उदवा वैसे यहां जो लिखा हुआ है उसमें वृत्तम के पहले भी आ लगाया हुआ है आ वृत्तम चारों ओर से जिसको हमने घेर लिया है इसके मंत्र के पदच्छेद की दृष्टि से देखें तो आ और कहीं हमें प्राप्त नहीं हो रहा है वृत्तम के पहले जो आ लगा हुआ है वो और कहीं प्राप्त नहीं हो रहा है उदवा में जो आ है उदव आ ऐसा कोई सोच सकता है लेकिन जो पदच्छेद उपलब्ध होता है उसमें आ अलग से नहीं है वहां पर महर्षि के भाष्य में भी उद उत अवा ये विच्छेद किया हुआ है वहां आ नहीं है अलग से और यदि उदवा का आ हटाएं तो नीचे उदवा को जो का तू तो पढ़ा भी गया है यदि उदवा का आ हटके आवृत्तम के साथ में आ जुड़ा है तो उदवा में वहां आ नहीं पढ़ा गया होना चाहिए था लेकिन वहां उदवा लिखा हुआ है किसी छपने की दृष्टि से यह त्रुटि हुई है तो उस परमात्मा को कह रहे हैं कि अस्माकम अंशम हमारे भाग को जो जो भी हमारे अवयव हैं उन सबको संग्राम संग्राम में यानी प्रत्येक संग्राम में उदवा उत्कृष्टता से उसकी रक्षा कीजिए भरे शब्द जो है भर विभ्रति धनानी यस्मिन तस्मिन भरे संग्रामी जिसमें धनों का धनों को धारण करते हैं भरण करते हैं उसे भर भरे युद्धे संग्रामे ये कहते हैं तो इस शब्द को जब हम देखते हैं कि संग्राम को भर शब्द से कहा गया तो संग्राम से धन कैसे भरता है कैसे धारण होता है तो पहला हमारा संकेत पहला हमारा ग्रहण ये होता है कि शत्रु का जो धन है वो हमें प्राप्त हो गए तभी तो भरेगा धन संग्राम में धन बढ़ता है संग्राम से धन बढ़ता है संग्राम से धन को बढ़ावे तो जिनको जीता है उनकी धन संपत्ति हमें प्राप्त होगी तो हमारा धन बढ़ेगा पहली दृष्टि हमारी यहां जाती है लेकिन इसको दूसरे दृष्टि से भी हम देख सकते हैं ये जो प्रार्थना की जा रही है ये आर्य के द्वारा की जा रही है श्रेष्ठ व्यक्ति के द्वारा की जा रही है जो ईश्वर को मानता है ईश्वर के अनुसार चलता है और वो संग्राम किससे कर रहा है वो आर्य से नहीं कर रहा है आर्य का आर्य से संग्राम होगा ही नहीं हो ही नहीं सकता ये युद्ध कर रहा है संग्राम कर रहा है अनार्य से जो दुष्ट है और दुष्ट से संग्राम क्यों हो रहा है दुष्ट से भी संग्राम करने को वेद कब कहता है उसमें दो स्थितियां बनती हैं पहली स्थिति कि वो दुष्ट है वो अपनी धन संपत्ति शासन का प्रयोग आर्यों के नाश में आर्यों के क्षय में कर रहा है इसलिए हमें उस पर आक्रमण करना है और उसको जीतना है ऐसा जब करेंगे तो उसकी धन संपत्ति हम प्राप्त करेंगे क्योंकि अभी उसकी धन संपत्ति शासन बल अनार्यों को अधर्म को बढ़ाने में लग रहा है और धर्म और आर्यों को नष्ट करने में लग रहा है इसलिए आर्यों को ये अधिकार दिया है ईश्वर ने श्रेष्ठों को ये अधिकार दिया है कि वो अनार्यों की धन संपत्ति को ले सकता है युद्ध कर सकता है वो धन संपत्ति ईश्वर ने आर्यों के लिए दी है ये भूमि अहम भूमि अददाम आर्या ये आर्यों श्रेष्ठों के लिए बना करके दी है ईश्वर ने तो यदि कोई गलत प्रयोग करता है तो वहां से लिया जा सकता है लेकिन हम आर्य होने चाहिए इस युद्ध का या दूसरे के धन को लेने का कभी भी अधिकार नहीं है कि हम अनार्य हैं और हम दूसरे का ले लेंगे नहीं हम आर्य होने चाहिए और दूसरा अनार्य होना चाहिए तब ये घटना होती है तब युद्ध होता है तब दूसरे का धन लिया जाता है तो इस तरह से संग्राम में धन बढ़ता है दूसरा जो बात में दूसरी बात जो बोल रहा था कि इस संसार में आर्य और अनार्य रहते रहे हैं रहते रहेंगे और अनार्य आर्यों के लिए बाधा खड़ी करते रहेंगे वैसे अनार्य भी समझते हैं कि आर्य हमारे लिए बाधा खड़ी कर रहे हैं लेकिन वो बाधा तो वेद सम्मत और ईश्वर सम्मत है आर्यों के द्वारा अनार्यों को बाधा दिया जाना रोका जाना उचित है पर अनार्य भी इसी तरह से समझते हैं कि आर्य हमारे लिए बाधा कर रहे हैं तो वो भी आर्यों से युद्ध करने लगते हैं और अनार्य तो आर्यों का या अनार्यों का धन लेना ही चाहेगा वो तो अनार्य है बिना पुरुषार्थ के दूसरों का धन वो लेना ही चाहता है तो जब अनार्य आर्यों का धन लेना चाहेगा छीनना चाहेगा और उसके लिए संघर्ष होगा तो आर्य को वहां भी युद्ध करना होता है अपने धन की रक्षा के लिए और जब वो अपने धन की रक्षा कर रहा हो और तब युद्ध में विजय प्राप्त हो तब जो धन का की प्राप्ति या धन का रक्षण है वो कौन सा हुआ अपने धन का रक्षण हुआ दूसरे का धन भले ही ना मिले लेकिन अपने धन का रक्षण हुआ इतने के लिए भी आर्य युद्ध करता है और आर्य को युद्ध करना पड़ता है करना पड़ेगा तो ये जो भर है जिसमें भरण होता है पोषण होता है रक्षण होता है धन का वो दोनों दृष्टि से दूसरे से भी प्राप्त होता है अनारियों से और हमारा रक्षित होता है तो जब जब युद्ध में धन की प्राप्ति धन के रक्षण पोषण की बात आए तो केवल यही अर्थ न लिया जाए कि दूसरों से प्राप्त होगा हमारा धन भी वहां पर रक्षित होता है और ये भी युद्ध संग्राम का प्रयोजन है आगे कहा अस्मभ्यम इंद्र वरिव सुगम कृथि हे इंद्र हे ऐश्वर्यवान और आगे एक और संबोधन विशेषण के रूप में दिया मघवन धन संपत्ति से युक्त है उस परमात्मा को कहा जा रहा है अस्मभ्यम वरिवह हमारे लिए वरिवह वरिवस शब्द धन के नाम में पढ़ा गया है हमारे धन को महर्षि ने यहां पर चक्रवर्ती राज्य यानी समस्त धनों को ऐश्वर्यों को संग्रहित करते हुए कथन किया उसको हमारे लिए सुगम कृधि अच्छी प्रकार सरलता से प्राप्त होने योग्य कर दो आर्यों को ये कामना करनी चाहिए हमारा चक्रवर्ती साम्राज्य हो और हम ये कामना प्रार्थना ईश्वर से कर रहे हैं कि वो हमें सरलता से प्राप्त हो जाए उस सरलता से प्राप्त होने के लिए क्या करना होगा उसके लिए युद्ध भी करना होगा संघर्ष भी करना होगा और संघर्ष में अपने बल को बढ़ा के भी हम जीतते हैं ये हम कामना प्रार्थना करते हैं कि हमारा बल सामर्थ्य बढ़े साधन बढ़े और हम इसके साथ साथ ये भी प्रार्थना करते हैं कि शत्रु का अनार्य का बल क्षीण हो दोनों तरह से दोनों के मिलने से हम अधिक शीघ्रता से सरलता से इसको प्राप्त कर सकते हैं इसलिए आगे कहा शत्रु नाम वृष्ण्या प्ररुज जो शत्रु हैं अनार्य हैं उनके वृष्ण्या को उनके पराक्रम आदि को बल को प्रहरुजा प्रकर्ष रूप से क्षीण कर भंग कर तोड़ दे छिन्न भिन्न कर दे रुग्ण कर दे बीमार कर दे इस मंत्र में जिस तरह की प्रार्थना की गई इसमें महर्षि ने बीच में एक वाक्य लिखा परमात्मा को जो कहा उत्तम रीति से कृपा करके रक्षण करो जिससे किसी युद्ध में क्षीण होके हम पराजय को न प्राप्त हो किंतु जिनको आपकी सहायता है उनका सर्वत्र विजय होता ही है इन मंत्र से इस मंत्र से और ऐसे बहुत से मंत्र आते हैं उससे एक भाव बनता है ईश्वर भक्त में कि परमात्मा युद्ध में सहायता करता है पर परमात्मा की सहायता हमें दिखाई नहीं देती सीधी सीधी या कुछ हम परिकल्पना करते हैं ये परमात्मा की सहायता रही हो लेकिन उसके साथ साथ जीत का भी संबंध यहां जुड़ा है तो परमात्मा सहायता करता है जीतने के लिए तो हम संबंध किस रूप से देखने लगते हैं जो जो जीतता है उस उसको परमात्मा की सहायता प्राप्त है क्योंकि तो बिना परमात्मा की सहायता के तो कोई जीत नहीं सकता है परमात्मा की सहायता से सर्वत्र विजय होता ही है तुकमुक तो क्या इसका अर्थ लेता है परमात्मा की सहायता से ही विजय होता है जब ये वाक्य आ गया परमात्मा की सहायता से ही विजय होता है तो दूसरा भाव अपने आप जुड़ जाता है कि जहां जहां विजय होती है वहां वहां ईश्वर की सहायता होती है और इसके विपरीत भी जुड़ेगा कि जहां जहां पराजय होती है वहां वहां ईश्वर की सहायता नहीं होती है और ये भाव बहुत आस्तिकों के मन में रहता है इसको अच्छे ढंग से भी लेते हैं वो श्रद्धा के रूप में ऐसा भाव है तो बहुत अच्छा है लेकिन जब फिर वो व्यवहार देखता है तो वहां कैसे निर्णय करें वो अपने को अच्छा समझता है वेद का मानने वाला वैदिक धर्मी आस्तिक लेकिन दूसरे जो वेद को नहीं मानते जो नास्तिक हैं उनकी विजय भी देखता है तो या तो वो इस बात पे विश्वास नहीं करेगा छोड़ देगा कि ईश्वर की सहायता नहीं होती है या तो वो वहां पहुंचेगा अंधश्रद्धा से मानता रहेगा कुछ भी नहीं सोचेगा तो हो सकता है वो मानता रहे कि ईश्वर की सहायता होती है क्योंकि जैसे ही वो सत्य को देखने लगता है वास्तविकता संसार में तो वो गड़बड़ हो जाती है उसे लगता है इससे मेरी आस्तिकता जा रही है तो वो सोचना ही छोड़ देता है बस मानता रहता है ईश्वर की सहायता होती है अंधश्रद्धा के रूप में कोई परीक्षण नहीं उसका बस मानता है कोई प्रश्न उठाए तो सीधा सोचेगा कि ये ईश्वर के ऊपर प्रश्न उठा रहा है ईश्वर पर शंका नहीं करनी चाहिए बस मान लिया लेकिन यदि वो प्रत्यक्ष को देख रहा है तो फिर दूसरे ढंग से क्या सोचने लगता है या तो ये बात गलत है इस निर्णय पे पहुंचेगा अथवा ये सोचेगा कि ये जो जीत रहे हैं अधार्मिक लोग अनार्य लोग ईश्वर उनको जिता रहा है हम क्या कर सकते हैं ईश्वर ही इन अनार्यों को जिता रहा है ईश्वर ही उनके साथ में है तो हम क्या करेंगे तभी तो उनकी विजय हो रही है क्योंकि उसने ये संबंध बना रखा है कि विजय तभी होती है जब ईश्वर की सहायता होती है ऐसे कई लोग बोलते भी हैं अनारियों की दुष्टों की वृद्धि हो रही है क्योंकि हर चीज में ईश्वर सहायक होता है ईश्वर ही उनकी सहायता कर रहे हैं और जब ईश्वर उनके साथ है तो हम उनको पराजित कर ही नहीं सकते उन दुष्टों को हम हरा ही नहीं सकते इस स्तर पर इस विचार में वो पहुंच जाता है और जो यहां पहुंच गया वो पंगु होगा वो फिर दुष्टों को हटाने के लिए या प्रयत्न की करेगा नहीं प्रेरणा नहीं देगा इन सब स्थितियों में सैद्धांतिक स्पष्टता बहुत आवश्यक है नहीं तो वो ही उलझ करके रह जाएंगे कभी या तो रुक जाएंगे या उलझ के रह जाएंगे या विपरीत कुछ मान लेंगे सायकाल जो हमारा विषय चल रहा है उस प्रसंग में भी इसको हम और विचार कर लेंगे इसमें मुख्य ध्यान देने की बात है कि पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना की जा रही है और यदि हमने पुरुषार्थ करके शत्रु को घेर लिया है वो घिर चुका है यानी हम बलवान हैं अब परमात्मा से प्रार्थना की भी क्या आवश्यकता है हम तो हमने तो घेर ही लिया है हम तो जीत ही जाएंगे वहां भी प्रार्थना की जानी चाहिए हम बलवान हैं हमने घेर रखा है लेकिन सदैव ये ध्यान रखना है कि वयम त्वया युजा तेरे से जुड़ करके हम जीते उन स्थितियों में भी तेरे को छोड़ करके ना जीते तेरे को हम स्वीकार करें और तेरी आज्ञा के अनुरूप ही हम जीतते रहें उसकी पालना में ही हम जीतते रहें ये परमात्मा को सदैव साथ रखने की बात है नहीं तो आर्य भी जब बलवान होता है जीतता है तो अभिमान से युक्त होकर के विद्या से रहित होकर के विद्या को छोड़ देगा विवेक को छोड़ देगा और कुछ ना कुछ गलत कर बैठेगा इन स्थितियों में भी जब हमने शत्रु को घेर रखा है तब भी आर्य को परमात्मा से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि तेरे से जुड़ करके हम जीते तेरे को छोड़ करके नहीं जीते तेरी आज्ञाओं से युक्त तेरी आज्ञाओं के साथ साथ उसके अनुरूप उसकी अनुपालना में हम जीते ऐसा व्यक्ति युद्ध कर सकता है उसको कोई पाप नहीं लगेगा ऐसा युद्ध उसकी मुक्ति में कभी बाधक नहीं बनेगा ऐसा युद्ध उसके पाप का पाप कर्माशय का कारण नहीं बनेगा दुख का कारण कभी नहीं बनेगा और इसके विपरीत स्थिति जब हो जब हम घिरे हुए हों और अनार्य हमारे को घेरे हुए हों तब भी हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं हमें परमात्मा पे विश्वास है भले ही भौतिक रूप से हमारा पराजय हो रहा हो क्षीण हो रहे हो मर रहे हो कटपिट रहे हो लेकिन मानसिक स्थिति में अंतर रहेगा एक दुष्ट अनार्य जब घिर जाता है वो संतुलित नहीं रह सकता आपस में भी झगड़ेंगे और कुछ का कुछ कर जाएंगे और आर्य जब घिरा हुआ होगा मरने की स्थिति में होगा तब भी ईश्वर विश्वास के कारण से अंदर से संतुलित रहेगा उसको डर नहीं है मर भी रहा हूं तो ईश्वर की रक्षा का विश्वास है ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था का विश्वास है मैं ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप लड़ रहा हूं भले ही अभी खत्म हो जाऊंगा उसको कुछ भी भय नहीं उसको कुछ भी हानि नहीं उसको कुछ भी आशंका नहीं है और जब भय आशंका आदि कुछ नहीं होती है अत्यंत विश्वास होता है तो बुद्धि संतुलित ढंग से काम करती है निर्णय अच्छे लिए जाते हैं और अनार्य जब दूसरों को घेर के मारने लगेगा तो वो और अधिक अहंकार युक्त होगा और अधिक उत्तेजना में होगा और अधिक लाभ प्राप्ति जो उसने सोच रखी है धन संपत्ति की वो विषय उसके मन में अधिक आएंगे और कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा वो अनेक बार आप ऐसी स्थितियां देख लेंगे कि हारते हारते भी वो जीत जाता है कंबल होते हुए भी महाभारत युद्ध भी एक उदाहरण है इसका इस सब का कारण है ईश्वर को साथ में लेके चलना त्वया युजा इसका ये अर्थ नहीं है कि जो अनार्य है वो कभी जीतते नहीं है वो भी जीतेंगे यदि हमने हमारा बल इत्यादि बहुत कम है आर्य भी जब दूसरों को घेर के रखेगा तब संतुलित रहेगा नहीं तो जीतते जीतते भी वो हार जाएगा अगर वहां वो अपना संतुलन खो बैठे जीतते जीतते भी ऊपर की स्थिति है नियंत्रण की स्थिति है वहां भी बाजियां खोई जाती हैं वहां तक भी ईश्वर हमारे साथ रहे और जब हम घिरे हुए हों तब भी ईश्वर साथ रहे हारती हारती बाजियां भी जीती जाती हैं इस संतुलन के कारण से और एक बात कि शत्रुओं के बल को भग्न कर दे न कर दे इस तरह की प्रार्थनाएं वेद में बहुत हैं और इसके आधार पर वेद पर बहुत आक्षेप भी किया जाता है कि दूसरे की हानि करने की प्रार्थना दूसरे को नष्ट करने की प्रार्थना वेद में है जबकि वो समाज में संसार में देखता है कि सबसे प्रेम करो सबका भला करो किसी की हानि मत सोचो इत्यादि धर्म के नाम पे बताया जाता है एक अंश तो ये तो ठीक है कि सबका हित हो सबसे प्रेम करें लेकिन अनारियों का हित किसमें है उनके पास धन रहे वो जीतते रहे इसमें उनका हित है जो ईश्वर विश्वासी है वो क्या देखता है कि ये धन संपत्ति इस शत्रु के पास में अनार्य के पास में रहेगी तो ये और आर्यों की तो हानि करेगा ही और अपनी भी हानि करेगा जो व्यक्ति उस दुष्ट के साथ प्रेम दिखा रहा है कि मैं इसको हराऊंगा नहीं इसका धन नहीं छीनूंगा वो दूसरे ढंग से कितने अन्यों के प्रति अप्रीति अप्रेम कर रहा है कुछ दुष्टों के साथ प्रेम करता हुआ दिख रहा है लेकिन उस प्रेम के करने से उसकी वृद्धि से जो अन्य सज्जनों को हानि होगी तो उनके प्रति प्रेम कहां रहा हमारा जो आर्यों के साथ प्रेम करता है अधिकों के साथ में प्रेम करता है वो उसको रोकेगा और वो दुष्ट व्यक्ति भी उस संपत्ति से अधर्म करके अपनी हानि कर रहा है मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहा है उससे धन छीन लेना उसके हित में है अन्यों के भी हित में है और उसके भी हित में है ये प्रीति दोनों दृष्टि से हो सकती है वास्तविक प्रीति कौन सी है ये प्रमाण से विवेक से पता लगेगा प्रीति का अर्थ हम ये देखें कि हम किसी को टोके नहीं किसी दुष्ट का धन नहीं छीने ये प्रीति है तो ये विचार कोटि में है इसे प्रीति नहीं कहेंगे ये ऊपरी ऊपरी प्रीति दिख रही है प्रीति वो होती है जिससे सामने वाले का हित हो भला हो ऐसी प्रीति ऐसा प्रेम जो हम दूसरे के प्रति कर लेते हैं उसको मित्रता और प्रीति मानते हैं जिससे उसकी हानि हो रही है वो प्रीति प्रीति नहीं है प्रीति के साथ में दूसरे का सामने वाले का हित अवश्य जुड़ा हुआ है हमारा किसी के साथ प्रेम से बोलना जैसे को कोई चोर उचक्का बोलता है बहुत प्रेम से बोल रहा है ताकि उसका धन हरण कर सके ये प्रीति प्रीति नहीं होती है कितना ही मीठा बोल रहा हो उसे प्रीति नहीं कहेंगे और कठोर बोलते हुए भी हित के लिए जो किया जाता है वो प्रीति कही जा सकती है तो दुष्टों के साथ में जब ऐसा व्यवहार होता है ये प्रीति है इसलिए वेद में जहां जहां शत्रुओं को मारने क्षीण होने की बात कही गई है ये द्वेष की बात नहीं है ये साधना में बाधक नहीं है ये वास्तविक साधना है ये वास्तविक साधना को वास्तविक स्तर पर ऊंचे ले जाने में आवश्यक है और इससे हम विचलित भी नहीं होते ऐसी प्रार्थना से और जो तथाकथित प्रेम दिखा करके थोड़ी सी शांति चाहता है साधनों में आगे बढ़ नहीं सकते वो ये ईश्वर की आज्ञा के विपरीत चल रहे हैं और उस समाज राष्ट्र में अधिक शांति रह नहीं सकती इस तरह से प्रेम रखने पे तो इस मंत्र में ईश्वर से जो प्रार्थना की गई है वो पुरुषार्थ पूर्वक की गई है और ईश्वर से सीधे सीधे सेना को नहीं मांगा गया है धन संपत्ति को नहीं मांगा गया है ऐसी प्रार्थना नहीं है जो हमारे पास है उसकी रक्षा हो जो हमारे पास है उसकी रक्षा कैसे होगी कि ईश्वर को साथ में रखने से हमारा संतुलन रहेगा और हम ही गलत व्यवहार करके अपनी चीजों को क्षतिग्रस्त नहीं करेंगे उनके बल को क्षीण नहीं करेंगे उनका ठीक ठीक पूरा पूरा उपयोग ले सकेंगे और विजय को प्राप्त कर सकेंगे ऐसी प्रार्थना इसमें मंत्र में की गई है और इससे हमारा धन राज्य सदा वृद्धि को प्राप्त हो वृद्धि को प्राप्त रहे किन्हीं को कुछ पूछना हो इस विषय में रामदेव जी इनका प्रश्न है कि आर्य अनार्य से युद्ध करता है तब ये प्रार्थना की जा सकती है की जानी चाहिए और तभी ईश्वर की सहायता मिलती है हम पूरे आर्य नहीं हैं दूसरा अनार्य है दूसरा भी पूरा अनार्य ना हो ऐसा भी हो सकता है उन स्थितियों में तरतम से देखा जाएगा और किस उद्देश्य से हम लड़ रहे हैं हमारे में कुछ त्रुटियां हैं हम पूरे आर्य नहीं हैं लेकिन अधिक हम आर्य हैं तो हम कर सकते हैं युद्ध वो अधिक अनार्य है हम युद्ध कर सकते हैं उसमें फिर वो इस दृष्टि से देख सकते हैं कि 50 प्रतिशत से अधिक यदि हम अच्छे हैं तो हम आर्य की श्रेणी में जाएंगे और 50 से कम यदि हम हैं तो हम अनार्य की श्रेणी में जाएंगे और फिर उसमें न्यूनाधिकता नब्बे दस अस्सी बीस कैसा है उसके अनुसार हम कर सकते हैं लेकिन परमात्मा की सहायता हमारा संतुलन उतना उतना ही ठीक रहेगा जितने हम आर्य हैं जितना अनार्यत्व हमारे में है उतना विचलन हमें रहेगा और हम गलतियां करेंगे आर्य संघर्ष करते हुए ठीक कदम डालेगा उसके ठीक कदम पड़ेंगे ऐसा बोलेगा ऐसा लिखेगा ऐसा करेगा वो उसके लिए अनुकूल होंगे ऐसा होगा उसकी बुद्धि ऐसी रहेगी और जो अनार्य है बलवान भी है वो ऐसा कुछ बोल देगा ऐसा कुछ लिख देगा ऐसा कुछ कर देगा जिससे वो उल्टा फंसेगा क्योंकि वो उतना संतुलित और शांत नहीं रह सकता जितना ईश्वर विश्वासी रह सकता स्वार्थ रहेगा अनार्य रहेगा तो बुद्धि में विचलन आएगा ही भले ही उसने कितना अधिक पुरुषार्थ किया है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगी जितनी शक्ति सामर्थ्य अनार्य के पास हो उतनी ही शक्ति सामर्थ्य आर्य के पास हो और फिर युद्ध हो तो आर्य ही जीतेगा क्योंकि जो आंतरिक सामर्थ्य है संतुलन आदि की वो अनार्य के पास नहीं रहेगी आर्य के पास कम बल शक्ति है तो भी वो जीत सकता है अनार्य के से यदि उसकी बल शक्ति अधिक भी है तो भी लेकिन बहुत अधिक अंतर होगा तो नहीं जीत पाएगा एक सीमा तक इसने भी पुरुषार्थ किया उतना नहीं कर पाया तो भी जीत जाएगा फिर उस उदाहरण को हम ले सकते हैं महाभारत के उदाहरण को ले सकते हैं कौरव पांडव को ले सकते हैं संख्या की दृष्टि से मा योद्धाओं की दृष्टि से बहुत अंतर था फिर भी ठीक पक्ष जीतेगा जीतेगा वो जीत सकता है ये ईश्वर की सहायता ईश्वर को अपने साथ रखने से वयम जयमा त्वया युजा बहुत महत्वपूर्ण है इसमें और कोई ठीक तो तो जी आर्य का सदा विजय होता है ये आवश्यक नहीं है आर्यों का भी पराजय होता है वो पुरुषार्थी नहीं है तो उतने अंशों में हम कहेंगे वो अनार्यत्व है उनमें अथवा सामर्थ्य ही नहीं है अकेला ऐसा पड़ गया है वो कि नहीं कर सकता वो उतना नहीं कर सकता दूसरा बलवान होगा तो जीते जीत जाता है वो जिनको आपकी सहायता है उनका सर्वत्र विजय होता ही है इसमें वृत्तम शब्द पे हमें ध्यान देना है कि हमने शत्रुओं को घेर रखा है हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए पुरुषार्थ होते हुए भी जो सांसारिक दृष्टि से जय पराजय है जो हम देखते हैं वो अनारियों की भी होती भी दिखेगी होती है अनारियों की विजय होती है वो छल कपट से किसी भी तरह योजना करके कर लेते हैं धन बल से और से होगा ये अगर अंततः देखा जाए तो आर्य की ही विजय होती है वो किस दृष्टि से कि मर भी गया है या क्षीण भी हो गया है लेकिन उसने बहुत पुण्य कमा लिया और उसके अगले जन्म बहुत अच्छे होंगे और मुक्ति को प्राप्त करेगा अंतिम विजय तो मुक्ति को प्राप्त करना है ये दुष्ट व्यक्ति ने जीत के जिसे हम जीत कह रहे हैं धन संपत्ति वैभव पूरी पृथ्वी का राज्य तक ले लिया तो भी वो विजय कैसे है उसकी हम उसकी विजय क्या केवल धन संपत्ति तक ही समझें ऐसा समझेंगे तो उसकी विजय अवश्य लगेगी लेकिन अंतिम विजय अंतिम न्याय की दृष्टि से देखा जाना चाहिए तब विजय मानी जाएगी छोटे न्यायालय में यदि कोई गलत फैसला हो गया है और सर्वोच्च न्यायालय में फिर ठीक हो गया है तो किसकी विजय मानी जाएगी अगर कोई सर्वोच्च न्यायालय को देख ही नहीं रहा है वहां के निर्णय को देख ही नहीं रहा है और निचले निर्णय के आधार पर ही ये रट लगाए हुए कि नहीं देखो गलत की जीत हो गई है तो क्या उचित माना जाएगा अंतिम निर्णय क्या हुआ है अंतिम जय पराजय किसकी हुई है अंतिम हित किसका सथा है आर्य की कभी हानि होती ही नहीं है शरीर कटपट गया राज्य चला गया लुटपिट गया कुछ भी हुआ तो भी आर्य की कभी हानि नहीं होती है कभी हानि नहीं होती है मतलब ऐसा नहीं कहेंगे मतलब तो नहीं ऐसा अर्थ लेंगे तो अनेक जगह संकट आएंगे फिर हमें ये मानना होगा जो मैंने कई बातें कही थी ऐसा मानते हैं कई लोग कि जहां जहां विजय होती है वहां वहां सहायता होती है और जहां जहां विजय हुई वहां ईश्वर की सहायता है तो यानी उनका पक्ष ठीक है और जहां जहां पराजय हुई वहां वहां ईश्वर की सहायता नहीं मिली यह अर्थ आएगा ईश्वर की सहायता आर्यों को उस ढंग से उतनी उतनी अवश्य मिल रही है लेकिन हमारा पुरुषार्थ ही इतना कम है हम नहीं जीत पाएंगे लौकिक दृष्टि से अंततः तो हम जीतने ही वाले हैं उसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है लेकिन सांसारिक दृष्टि से हमारा पराजय हो सकता है क्योंकि हमने ईश्वर की दूसरी आज्ञा को पालन नहीं किया है हमने उतना पुरुषार्थ करके साधन इकट्ठे नहीं किए हैं उतना बल इकट्ठा नहीं किया है वो हमारा दोष है उतने अंश में हम आर्य नहीं हैं ये मानना ही पड़ेगा हमें ईश्वर ऐसी सहायता नहीं करेगा कि हम कोई पुरुषार्थ ना करें हम केवल अच्छे हैं दीनहीन अवस्था में बैठे और हमारे को कोई आकर के प्रताड़ित नहीं कर सकता कोई रोक नहीं कोई हमारे को जीत नहीं सकता दुष्ट व्यक्ति होगा चोर लुटेरे आएंगे और कुछ भी करेंगे कर्म की स्वतंत्रता ईश्वर ने दे रखी है वो करेंगे दूसरे रोक नहीं सकते हम ईश्वर भी नहीं रोकेगा उनको इस ढंग से और उसका दुष्फल हमारे को भोगना ही पड़ेगा तो परमात्मा की सहायता कैसी होती है कितनी होती है एक विषय अभी और विस्तार से लिया जाएगा पर मंत्र में के और महर्षि के वचन से ये बिल्कुल नहीं होगा कि जिनको आपकी सहायता है उनका सर्वत्र विजय होता है जिनको आपकी पूर्ण सहायता है वो तो उनको होगी जिन्होंने पूरा प्रयत्न किया है पूर्ण पुरुषार्थ किया है अगर हम ऐसे हैं तो हमारी विजय अवश्य होगी हमारी तरफ से न्यूनता नहीं है तो ईश्वर की पूरी सहायता रहेगी और हमारी विजय होगी लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं लेना चाहिए कि जिस जिस की पराजय होती है उसको ईश्वर की सहायता नहीं है और जो जो जीतता है चाहे वो अनार्य हो उसको ईश्वर की सहायता है ये अर्थ नहीं लेना चाहिए परमात्मा शुभ कर्मों में ही सहायता करता है आर्यों को ही सहायता करता है तो इस विषय को अभी यहीं रखते हैं तीन बार ओम का उच्चारण और शांति पाठ Oh. निरन्तरिक्षम् शांति पृथिवी शांतिराप शान्तिरोषधयः शांति वनस्पत शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शांति सर्वं शान्तिः शान्तिरे शांति सामा शांति रे ओ शांति शांति शांति सर्वेभ्यो नमः सबको